भद्रं कर्णे श्रूयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिरेता स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनोदेवदेव अथर्वेद मांड के उपनिषद पंचम मंत्र के विचार किया गया पंचम चतुर्थ मंत्र के विचार हो गया जिसमें के अक्षर को सब कुछ कह करके ओम क्योंकि ये तब अक्षर सर्वम की जो ओंकार को सब कुछ कहा अक्षर को वाचक की प्रधानता को लेकर के कहा उसके बाद वाच्य की प्रधानता को लेकर कहा सर्वमी ये तब दूसरे मंत्र में कहा और वो ब्रह्म क्या है तो आय आत्मा ब्रह्म या अपना ही ब्रह्म है स्वयं आत्मा को विस्तार करके प्रकरण आरंभ किया था जिसमें दो पारों की चर्चा हो गई जब जागृत अवस्था में होकर इंद्रियों के माध्यम से विषय का ज्ञान अर्जन करता है तो उसके वो एक पार है उसका नाम पड़ता है वैश्वान पार आत्मा का नाम पड़ता है और इंद्रिय विषय के बिना ही संस्कार रूप विषयों का अनुभव जब करता है स्वप्नावस्था में उसका अनुभव कई स्थान प्राप्त करता है और वो हिरण्य गर्भ से अभिन्न करना है कैलस और सुसुप्ति अवस्था में कोई विषयों का ज्ञान नहीं है विषय में ज्ञान भी नहीं है ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं प्रतिदिन हो जाता है आत्मा उसका उसका नाम पड़ेगा प्राप्त आत्मा और इस अवस्था से ऊपर होने पर तुरीय नाम प्राप्त करता है वहां जाना है पहुंचना वहां इसके लिए सुसुप्त अवस्था की चर्चा उठाई मंत्र में कहा था यंत्र शुक्रो नकंदन कामों काम रहते जिस अवस्था में सोया हुआ व्यक्ति एक में तो ऐसा है दर्शन होता है सोया हुआ है किंतु तो दर्शन होता है विषम का दर्शन होता है स्वप्न अवस्था के ये न तंत्र स्वप्न पश्चिम कोई कामना भी नहीं है विषम की इच्छा भी नहीं है जागृत काल की इच्छा होती है जहाँ सोया हुआ व्यक्ति को कोई किसी प्रकार है काम विषय विषम की इच्छा नहीं है किसी विषय में चाहता है सुसुप्त में किसी किसी को चाहता है जागृत व्यापृति करने के लिए विशेष मत और न पंचान स्वप्न पश्य स्वप्न भी नहीं देखता जिस अवस्था में तत् सुसुप्तम उस अवस्था को सुसुप्त अवस्था कहते हैं सुसुप्त स्थान ये सुसुप्त स्थान वाला आत्मा हो जाता है उस काल में सुसुप्त स्थान अश्य सुसुप्त स्थान है बहुत समाज से सुसुप्त स्थान ये सुसुप्त स्थान है वाला आत्मा है एक ही भूत उस काल में जो जागृत और स्वप्न के जितने भी ज्ञान थे भिन्न भिन्न विषयों का भिन्न भिन्न ज्ञान होता था जागृत स्वप्न में विषय भी अनेक होते थे ज्ञान भी अनेक प्रकार के होते थे वो सबके साथ सब एक हो जाता था विषय के ग्रहण करने का साधन विषय और विषयजन्य ज्ञान सबके सब उस अवस्था में एक हो जाते हैं एक ही भूता एक हो जाते सारे ज्ञान जितने भी भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता था जागृत स्वप्न में सारा ज्ञान एक रूप हो जाते हैं इसलिए उसको कहा प्रज्ञान घन उस काल में आत्मा को कहते हैं प्रज्ञान घन कहते हैं ज्ञान का पुंज हो जाता है कहा माने मुख्य नहीं है गौण है मुख्य ज्ञान पुंज प्रज्ञान घन तो तुरी वाला ही है मैंने अन्य अवस्थाओं में ज्ञान था इस अवस्था में ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं है इसलिए प्रज्ञान घन सब से कहा कि गौण प्रयोग है भाष्य बात करें प्रज्ञान घन एवं उस काल में आत्मा को प्रज्ञान घन ही कहा जाता है प्रज्ञान रहने वाला क्या आनंदमय आनंद प्राचुर्य है उस काल में ये मैं यहाँ पर प्राचुर्य अर्थ दिखाया मैंने जागृत स्वप्न में जो भी होता था मैंने सुख दुख का अनुभव करता हुआ दौड़ने वाला जीवात्मा कभी भी आनंद प्राप्त नहीं करता था दुख तो दुख ही है सुख काल में भी दुख होता था अरे जो भी दुख सुख मिलता है हम दुख सुख मानते हैं दुखान विद्या है साथ में भय बना हुआ है नाश न हो जाए सुख दुख से ग्रसित था क्योंकि इसमें सुख प्राय हो जाता है सुसुप्त अवस्था में कुछ भी नहीं है बस शांत है इसलिए आनंद लया बैठ जो है प्राचुर्य आप में दिखाएंगे आनंद लया है कि आनंद तो भोगता आनंद भोग उस काल में सुख का अनुभव करने वाला हो जाता है माने स्वरूप सुख का अनुभव करता है विषय सुख नहीं विषय जन्य सुख नहीं विषय है ही नहीं वहां स्वरूप सुख का ही अनुभव होता है निर्विषय सुख भी होता है करके दृष्टांत की है विषय जन्य सुख मात्र नहीं बिना विषय का भी सुख होता है उसके लिए दृष्टांत है सुख आनंद भुख आनंद का भोक्ता बनता है उसका आदमी आत्मा चेतो मुख चेतना की तरफ इसके प्राधान्य होता है वहां से चेतना की तरफ जाना है सुसुप्ति के बाद में स्वप्न या जागृत में जाना है मन में चेतना युक्त तो होगा वो स्वभाव आ जाना है तो वो मुख हो जाता उसका माने चेतना के बीज है वहां से चेतना जागृत होनी स्वप्न जागृत में आने की अवस्था है जाते हुए नहीं आते हुए प्राज्ञ हाँ, ये प्राज्ञ आत्मा है तो तृतीय पाद आत्मा का तृतीय पाद है कहा टिप्पणियां थी एक दो की काम काम एक कौन सा काम मैंने पुण्य पुण्य पाप प्रयोजकम पुत्रदार धनादिकम काम पदार्थम न काम है अर्थ करना पुण्य और पाप ये गुप्त निवृत्त बनते हैं विषय के लिए विषय प्राप्ति के लिए या तो पुण्य होगा या पाप होगा इष्टानिष्ट विषय प्राप्ति पुण्य होगा तो इष्ट विषय की प्राप्ति होगी और पाप होगा तो अनिष्ट विषय की प्राप्ति होगी इसके साधन ये पुण्य पुण्य पुण्य पुण्य प्रयोजक प्रयोजक बनते हैं विषय प्राप्ति में पुण्य और अपुण्य और पुण्य पाप प्रयोजक होते हैं प्रेरक होते हैं कौन विचार करते हैं पुत्र दान धनाधिकम कोई पुत्र से सुखी है कोई पुत्र से दुखी है कोई पत्नी से सुखी है तो पत्नी से दुखी भी है और पुण्य पाप कारण बने हुए पुण्य पाप कारण बन जाते हैं सभी पुत्र से सुखी नहीं है सभी पुत्र से दुखी भी नहीं कोई सुखी दिखता है कोई दुखी दिखता है इसका मतलब वहां अपने किया हुआ पुण्य पाप कारण बने हुए ये टिप्पणी कर रहे हैं पुण्य पाप पुण्य पाप जो प्रयोजक है दोनों प्रयोजक बनकर पुत्र दार धनार्थम चाहे पुत्र हो पत्नी हो धन आदि जो भी हो ये सामने हो जाते हैं जो विषय है काम्यमान हम काम्यमान जो पदार्थ है जो इष्ट बनता है ये पदार्थ न काम काम होते जिस जागृत में चाहता था जहां पर एक किसी की भी चाहना नहीं करता विषयों की चाहना नहीं करता वो अवस्था सुसुप्त अवस्था है कहा न कंचन स्वप्न पश्य दोनों दो नंबर टिप्पणी स्वप्न सुभाषुभ जागृत वासना जन्य पदार्थ स्वप्न में जो होता है जागृत में जो सुभाषु विषय को देखा सुना हुआ है उसी के वासना रूप संस्कार जगना है मन में स्वप्न तो उसको भी नहीं देखता स्वप्न के पदार्थ भी नहीं है देखा ठीक है पारद्वयम एवं व्याख्याय तृतीय पादम व्याख्याक्षम व्याख्या मानस न कंचन इत्यादि विशेषण से तात्पर्य पाद की इस प्रकार व्याख्या हो गई माने वैश्वानर पाद और तेजस पाद दो आत्मा की व्याख्या दो प्रकार से व्याख्या हो गई आत्मा की द्वितीय पाप की व्याख्या करके इस प्रकार व्याख्या करके तृतीय पाद तृतीय पाद है व्याख्यासन इसको व्याख्या करते हुए व्याख्यासन में ये दृट हुआ है दृट लकार में क्षत्रिय आदेश हुआ है और सदभा ऐसा सूत्र है विकल्प से हो जाता है है लकार के स्थान में सब प्रत्यय होता है क्षत्रिय और सामने के प्रकरण में कौसत है कौ मैंने क्षत्रिय सामने और नृत्य प्रकार में विकल्प से क्षत्रिय सामने आदेश होते हैं व्याख्या करने योग्य जो है उसका मतलब उसको व्याख्यामान श्रुति है व्याख्या करते हुए भाषिका नहीं करते हैं जो व्याख्यामान श्रुति है उस श्रुति में न कंचन विशेषण से तात्पर्य कहा न कंचन काम काम रहते न कंचन स्वप्न पश्यती ये तो विशेषण है इनके तात्पर्य बताते जो दो विशेषण चढ़ा दिया है न कंचन काम काम रहते न कंचन स्वप्न पश्यती इस विशेषण का तात्पर्य बताते हैं क्या बताते हैं भाषण कहा दर्शन दर्शन वृत्तो तत्व प्रबोध लक्षण से स्वापस्य सुसुक्ति सुसुप्ति यत्र सुप्त इत्यादि विशेषण देखो दर्शन वृत्ति जागृत है और अदर्शन वृत्ति होता है स्वप्न तो इंद्रियों के माध्यम से देखना सुनना भी होता है जागृत में दर्शन वृत्ति वाला होता है और अदर्शन देखना सुनना नहीं भीतरी केवल भीतरी देखना होता है वह है अदर्शन वृत्ति वाला स्वप्न ये दोनों वृत्ति होता है तत्वाप्रबोध लक्षण से स्वापस दशा सुसुप्ति का लक्षण मुझे घटता है तो आगे कारिका में कहेंगे अन्यथा ग्रहण स्वप्न निर्धातत्व अजानता विपर्या से तयोक्षण तूरीय परम स्मृति ऐसे कारिका में कहेंगे अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहते हैं जागृत और स्वप्न दोनों ही स्वप्न है अन्यथा ग्रहण होता है इसमें अधिष्ठान अन्य होता है हम अन्य प्रकार से देख रहे हैं अभी जो मनुष्य दिखाई दे रहा है मनुष्य अवच्छिन्न चेतन में कल्पित है चेतन है हम मनुष्य रूप में देख रहे हैं अन्यथा ग्रहण ग्रह का स्वप्न अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहा गया है और निद्रा तत्व अजानता स्वप्न और निद्रा का यही व्याख्या है कि तत्व आत्मा के ज्ञान नहीं होना यह है निद्रा तो सुसुप्त में आत्मा का ज्ञान तो में तो इनमें भी आत्मा का ज्ञान है समान है ये दोनों अवस्थाओं में आत्मज्ञान में यह सुसुप्ति में समान नहीं कहा दर्शन दर्शन वृत्ति हो जागृत स्वप्न हो जो दर्शन वृत्ति और आदर्शन वृत्ति जागृत में देखना इंद्रियों के माध्यम से विषय का आर्जन होता है दर्शन वृत्ति वाला है वो और स्वप्न आदर्शन वृत्ति वाला है भीतर ही होता है जो कुछ होता है ये दोनों वृत्तियों का तत्व अप्रबोध लक्षण से तत्व अप्रबोध क्या है निद्रा है सुसुप्ति है लक्षण से जो निद्रा सुसुप्ति है समान है तो इसलिए सुसुप्ति को जागृत स्वप्न से जागृति करने के तत्व अवबोध लक्षण सुसुप्ति ऐसा बोलते क्या बोलते तत्व का ज्ञान न होना सुसुप्ति है कहेंगे तो तत्व का ज्ञान यहां भी नहीं कहा जागृत स्वप्न में भी नहीं है लक्षण में कम का अतिव्याप्ति हो जाती है इसके लिए कहा जाते हैं सुसुप्ति ग्रहणार्थम सुसुप्ति के ग्रहण के लिए यत्र सुप्त इत्यादि विशेषण इत्यादि विशेषण ये विशेषण यत्र सुप्त न जाए काम काम है जागृत में भी सोया हुआ ही हो निद्रा है किंतु कामना करता है तो जागृत से व्यावृत्ति और न कंचन स्वप्न पश्यति वो भी निद्रा ही है किंतु एक निद्रा में स्वप्न दिखता है एक निद्रा में नहीं दिखता इसमें सुसुप्त में नहीं दिखता तब तो मजा आना था निद्रा निद्रा तो है इसलिए कहा कि विशेषण दो विशेषण दिया सुसुप्त को व्यापृति जागृत और स्वप्न से व्यापति करने के लिए न कंकन काम काम थे न कंकन सपन कश्य दो विशेषण अथवा अथवा दूसरे प्रकार की व्याख्या करना चाहिए अथवा त्रिशु अपनी स्थानेशु तत्व तत्व अप्रतिबोध लक्षण स्वात्व अभिविष्ट ही पूर्वाभ्याम सुसुप्तम विभजत है तीनों अवस्थाओं में तत्व प्रबोध रूप लक्षण स्वाप निद्रा जो है बराबर है आत्मा का ज्ञान तीनों अवस्थाओं में जागृत में है न स्वप्न में है न सुसुप्ति में है तीन अवस्थाओं में नहीं है तत्व का अप्रबोध समान है अविशिष्ट समान जो पूर्वाभ्याम सुसुप्तम विभाग इसलिए तीनों में तत्व प्रबोध समान होने पर भी पूर्व वाले दो अवस्थाओं से सुसुप्ति की व्यावृत्ति करते हैं क्या बोलते हैं यत्र सुप्त न कंचन काम काम दे न कंचन स्वप्न पश्चिम इसके पूर्व में तत्व प्रबोध लक्षण समान होने पर भी एक कामना करता था विषयों में जागरूक में पुत्र जी की कामना करता था स्वप्न में ही स्वप्न देखता था दृश्य पदार्थों को देखता था किंतु यहाँ न कामना करता है न स्वप्न देखता है यत्र इत्यादि भाष्य का अर्थ करते हैं यत्र मानी यशम स्थान है जिस स्थान में पहुंचने पर जिस स्थान में हम पहुंचेंगे पूरी तक नाड़ी में जब पहुंच जाते हैं स्वप्न अवस्था में गीता राम के नाड़ी में पहुंचते हैं तब तो हम स्वप्न देखते हैं स्वप्न अवस्था है उदितत नाड़ी में जब हृदय देश में है वहां पहुंच जाते हैं वो है सुसुप्ति यत्र यशमिन स्थान है जिस स्थान में काले बात इधर यशमिन काले भी हो सकता है जिस स्थान में अथवा जिस काल में दो में से कोई भी यत्न सर्वदा करवा सुख तो जहां सोया हुआ व्यक्ति है जिस अवस्था में सोया पड़ा है कैसा सोना न कांचन स्वप्न पश्च्य कोई स्वप्न नहीं देखता दृश्य जगत नहीं दिखता उस काल ऐसा स्थान है एक स्थान उसी का नाम सुसुप्ति है न कंचन काम काम है किसी विषय की कामना भी नहीं पुत्र नहीं चाहता मित्र नहीं चाहता कोई इष्ट वस्तु नहीं चाहता उसका जागृत में मरता था इष्ट वस्तुओं के लिए मरता था आपाधापी करता था किंतु वहां कुछ नहीं चाहता नहीं सुसुप्ते पूर्वयोगी को अन्यधारण लक्षण स्वप्न दर्शन काम होगा कष्ट दिखते ये इसी का अर्थ करते हैं सुसुप्ति अवस्था सुसुप्त अवस्था में पूर्वयोगी पूर्व में दो प्रकार होता था अन्यथा ग्रहण होता था अन्यथा ग्रहण लक्षण स्वप्न दर्शन काम होगा अन्यथा ग्रहण में ये दोनों आ जाते हैं अन्यथा ग्रहण स्वप्न दीर्घा तत्व अजानत से प्रयोग छिड़े तुरीयम फलम कार्य का कार्य का सुसुप्ति अवस्था में पूर्व पूर्व में जैसे अन्यथा ग्रहण हो रहा था अधिष्ठान और कुछ है कुछ वस्तु और दिख रहे थे मनुष्य आदि को दिखाई दे रहे थे जागृत स्वप्न आदि आत्मा में कल्पना थी स्वप्न दर्शन बात काम होगा स्वप्न दर्शन भी नहीं होता अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न दर्शन भी नहीं है और काम मान जागृति के पास विषय भी नहीं जिस अवस्था है ही नहीं ना पश्चिम विद्यार्थी कोई भी पदार्थ नहीं उस अवस्था इसलिए सुशक्ति के लिए विशेषण लगाया न कंजन काम काम होते न कंजन सुन कश्य उसी को सुसुप्त स्थान कहते हैं तदेतर सुसुप्तम स्थान अश्य ऐसे सुसुप्त स्थान जिसका है उसको कहेंगे सुसुप्त स्थान बहुनी समाज तदेतर इस प्रकार के सुसुप्तम स्थान ऐसे ही सुसुप्त स्थान ऐसे आत्मा में सुसुप्त है यह आत्मा जो है सुसुप्त स्थान वाला हो जाता है एक नंबर टिप्पणी श्रुतिया स्वयं को प्रदर्शित श्रुति ने स्वयं दिखाया ये यत्र सुप्तो न कंदर कामो कामे न कंदर सुप्रम पश्य ही तत्सुप्तम उक्त स्थान इत्यादि करके कहा भाष्य में स्थान प्रेम भक्तम मन स्पंदित द्वैत जातम देखो दो स्थान में विभक्त हुआ जो मन जागृत में जो मन रहता है स्वप्न में क्या होता है वास्तव में न जागृत अवस्था है न स्वप्न अवस्था है केवल मन के स्पंदना है मन की चेष्टा मात्र है जागृत में कल्पना मन में ही कल्पना करता है और स्वप्न भी कल्पना करता है मन की कल्पना है सारी स्थानों प्रविभक्तम दोनों स्थानों में जागृत और स्वप्न में विभक्त हुआ जो जगत है द्वैत है वह मनस्पंदितम द्वैत जातम प्रविभक्तम द्वैत जातम जो विभक्त हुआ द्वैत है मनस्पंदितम मन के स्पंदन मात्र है चेष्टा मात्र है आगे कारिका में कहेंगे तृतीय पाव जाकर तृतीय प्रकम का अद्वैत प्रकरण कहेंगे मनोमात्र इदम द्वैतम यदि किंचित सचराचरम मनसो यमनी भावे द्वैतम नहीं बोलना स्पष्ट बोलना ये जो कुछ भी चराचर जगत है मनोमात्र है मन से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है विचार करके देखने पर सिद्ध होगा मनसो यमनी भाव है मन जब अमनी अवस्था में जाएगा अपना काम करना छोड़ेगा तब देखा है आपने सुसुप्ति अवस्था में द्वैतम नहीं वो उपलब्ध थे द्वैत वहां द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है एक जागृत स्वप्न में मन का खेल है मन है तो जगत है मन नहीं है तो जगत नहीं है जागृत स्वप्न में मन जीवित होता है तो जगत है जगत खड़ा हो जाता है मनोमातम द्वैतम यदकिंचित सचराचरम मनुष्य यमन भावे द्वैतम मन को उपलब्ध है अद्वैत प्रकरण में आकर के बात होता है तो कहते हैं स्थान द्वैत विभक्तम दो स्थान में विभक्त हुआ ये द्वैत है द्वैतम मन स्पंदितम केवल मन की स्पंदना मात्र है मन की चेष्टा मात्र है कल्पना मात्र है वास्तव में न जागृत है न स्वप्न ऐसा द्वैत तो व्याप तथा रूप अभ्य आगे ना अविवेकापन्नम देखो सुसुप्त में इनका विलय हो जाता है वो स्थान में विभक्त द्वैत जो था खड़ा था एक क्षण पहले दिख रहा था दृश्य दृष्टा दर्शन बन करके त्रिपुटी दिख रहा था एक क्षण के बाद में सब गायब हो गया हाँ, न दृष्टा न दृश्य दर्शन त्रिपुटी समाप्त हो जाता है जब सुसुप्त में जाता है एक ऐसा दरवाजा लग जाता है दिख रहा था दिखते दिखते सब हो तो क्या हो जाता है तो ये विलय जो जगत का होता है शिशु की अवस्था में देखो कार्य का जो विलय दो प्रकार से होता है एक तो सामवय मास और एक निरन्वय मास या सामवय मास होगा अपना स्वरूप का परित्याग नहीं करेगा नष्ट नहीं होता जगत सुसुप्ति में पूरा नाश नहीं होता ये कपड़ा को नाश करना होना दो तरीका है धागा को खोल दो कपड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे कपड़ा नाश हो गया किंतु तो उस साम्राज्य नाश करेंगे जो धागा को तो खोल दिया दोबारा कपड़ा बन सकता है निर्वशेष नाश नहीं है किंतु इसमें धागा में आग लगा देंगे और कपड़ा बनता ही नहीं बनेगा वो है निरन्वय नाश तो प्रलय दशा में जो होगा निरन्वय नाश होगा क्योंकि सुसुप्ति में जो विलय है जगत का द्वैत का जागृत सपने जगत का वो सामने है ये यहां बोला जा रहा है आंशिक हो जाता है अंश अंश रह जाता है उसका तथा रूप अपरित्याग जो दो स्थान में विभक्त जगत है द्वैत है उस रूप का अपरित्याग पूर्वक सुशुक्र होता है परित्याग नहीं करता रूप बचा के रहेगा द्वैत नहीं तो जो उठ में कहा से आ गया नष्ट हो गया होता नाश नहीं होता तथा रूप जो मनस्पंदित रूप जो जगत था प्रयोग द्वैत जगत तथा रूप अपरित्याग है उसका अपना जो स्वरूप था उसको अपरित्याग करते हुए परित्याग न करता हुआ जगत अविवेकापन विवेक के योग्य नहीं रहा पहले दृष्टा दृश्य जब दर्शन रूप में विवेक युक्त था अभी विवेक था को तो नहीं है अविवेक में प्राप्त हुआ जगत द्वैत है नई तमो ग्रस्तम युवा जैसे जो दीन माने प्रकाश को दीन बोलते हैं प्रकाश जब रात्रि से ढक जाता नैष्तमोग्रस्तम अह जैसे रात्रि का जो तम है अंधेरा है उसके द्वारा जो प्रकाश ढक जाता है ढकने पर क्या होगा सब प्रपंचम देवी भूतम चले जैसे वो अह नहीं है कहा जाता है तो प्रकाश है अवेरे से ढका हुआ है इसी प्रकार यहाँ भी द्वैत पूरा नाश हो जाता सुश्रुति में सब प्रपंचकम द्वैतम एक ही भूतम एक ही भूत हुआ जैसा हो जाता है एक ही हो गया और भिन्न भेद करने की वहां पर कोई इंद्रिया आदि हमारे पास नहीं रहे नख मास नहीं हुआ है एक ही भूतम की उच्चरी उसको एक ही भूता एक ही भूता कहा ये सारा द्वैत एक ही भूत हो गया मतलब एक ही भूत बोला हुआ है एक ही भूत हो गया है कैसे दृष्टांत दिया नए सतमो ग्रस्तम इव अह जैसे अहन है दीन है प्रकाश है प्रकाश को ही दीन कहेंगे जैसे रात्रि के आगे से ढक जाता है प्रकाश नाश नहीं होता ढक जाता है तो दिन नहीं है बोला जाता है ठीक इसी प्रकार अपना स्वरूप परित्याग नहीं करता वही प्रकाश फिर दोबारा आ जाता है ऐसे यहाँ भी जागृत में अशोक में वहीं से निकल कर फिर आ रहा है इसने नाश नहीं होता जगत को एक ही भूत शब्द कहा अतएव स्वप्न जागृत मन स्पंदनानी धनी भूतानी व सायम अवस्था अभिवेक रूपत्वा प्रज्ञान और इसलिए स्वप्न जागृत मन स्पंदना प्रज्ञा प्रज्ञामानी स्वप्न और जागृत में मन के जो स्पंदन थे चेष्टा और जो ये ज्ञान थे जितने भी ज्ञान थे तब तक विषयों का ज्ञान मन जैसे जैसे विषयों का कल्पना करता था वैसे वैसे विषय का ज्ञान होता था स्वप्न में जागृत में मन की कल्पना थी सारी तो स्वप्न जागृत मन स्पंदनानी प्रज्ञानानी स्वप्न और जागृत अवस्था में दोनों में जो मन के स्पंदन मात्र से होने वाली जो प्रज्ञान थे जितने भी ज्ञान थे तब तक विषयों का ज्ञान स्वप्न तो में भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता था जागृत में होता था सारे ज्ञान घनी भूतानी है इस समय में एक जैसे हो गए और वह विवेक नहीं कर पा रहे जितने भी ज्ञान थे जागृत स्वप्न के विशेष ज्ञान जितने भी विषय युक्त ज्ञान थे विशेष ज्ञान थे उसके घनीभूत हो गए एक हो गए जैसे वहां विवेक नहीं हो पा रहा है कि किस विषय का ज्ञान है किस विषय का ज्ञान है इसमें छांदोग्य आदि में मधुमक्खी के मधु का दृष्टांत लेकर के बोला जैसे मधुमक्खियां अनेक पुष्पों से पराग लाती है तो वो मधु बनाती है मधु बनने के बाद वो मधु को ये नहीं पता होता कि मैं अमुक वृक्ष का पराग हूँ मैं अमुक का पराग हूँ मैं जाने वहां अनंत वृक्षों के पुष्पों का पराग है वहां किन्तु किसी को भी ज्ञान नहीं होता ठीक इसी प्रकार से में सत्य सब उस जितने भी ज्ञान थे जागृत सपने के विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान रूप में परिणत है इसलिए इसको प्रज्ञान धन संस्था को एक बोलते हैं अतएव स्वप्न जागृत मन स्पंदनानी प्रज्ञानी स्वप्न और जागृत में मन के जो स्पंदन थे चेष्टा मात्र थे प्रज्ञान प्रज्ञानी थे नहीं विषय नहीं थे तो प्रज्ञान कहाँ से होना मनस के पवन मात्र जितने भी थे घनी भूतान इव हो गए इस प्रकार घन तो नहीं हुए घनी भूतान इव इव मिले नहीं है ऐसे लगते हैं सहाय अवस्था इसी अवस्था को वही अवस्था है अविवेक रूपत्वाद प्रज्ञान हम विचरे यह अवस्था अविवेक स्वरूप है विशेष ज्ञान नहीं है अविवेक स्वरूप अवस्था है कोई भी किसी का ज्ञान नहीं उसका होने इसलिए उसको प्रज्ञान धन कहा जाता है उस आत्मा को उसका में प्रज्ञान धन शब्द से कहा जाता है जैसे यथा रात्रो नैसे तमसा अब अभिभ्यमान सर्वम घनम युवा जैसे रात्रि में अंधेरे से जो ढक जाते हैं वस्तु ढक जाते हैं वस्तु का विवेक हम नहीं कर पाते ये घट है ये पट है मठ है चट है कोई भी विवेक नहीं कर पाते हैं सब एक हो गया ऐसा हमको लगता है तो अंधेरा ढक देता है वस्तु को कई वस्तु रखे हुए थे किंतु सब ढक गए किससे ढके अंधेरे से तो हमको एक ही मान होता है वस्तु धन हो जाता हो एक यथा रात्र नैशेर तमसा निशायाम भव नैसा निशा में होने वाले को नैसा बोलते हैं तम नैशेर तमसा तो निशा में होने वाला तम है अंधेरा है तममान अवेरा तृतीयांत है ऐसे में तमसा अविभज्य विभक्त नहीं हो पाते वस्तु सारे वस्तु थे किंतु रात्रि में एक हो गए सब अविभज्यमान सर्वम सबके सब वस्तु जितने मिले घनम घन जैसे हो जाते एक ही हो गए जैसे लगते वस्तु तो अलग अलग ही हो एक हो गए जैसे लगते इसी प्रकार यहाँ भी प्रज्ञान घन जैसे हो जाते विशेष ज्ञान जितने भी थे तो अलग अलग ही होगा वो किंतु एक हो गया ऐसा लगता है तब प्रज्ञान घने वह प्राज्ञा प्रज्ञान घने वह यही होगा प्राज्ञ जो होगा प्रज्ञान घनी होगा तीन की टिप्पणी प्रज्ञान घन प्राज्ञा एक शेष प्राज्ञ प्रज्ञान घन ऐसा प्राज्ञा आत्मा जो है प्रज्ञान घनी है ऐसा अर्थ करना ये शब्दार्थ जात्यंतरम प्रज्ञान अस्थि ये एवं लगा दिया प्रज्ञान घन एवं भाषिका में एवं लगाया हुआ है यव लगाने से क्या होगा यव शब्दात प्रज्ञान एव मंत्र में है यव शब्द है तो ये वो लगने से क्या हो जाएगा ये का जो है इतर से व्यावृत्ति करा देता है वो तो कहाँ लगा हुआ है विशेष अनुसार साथ लगने पर अलग अर्थ हो जाता है विशेष से साथ लगने पर अलग होता है क्रिया के साथ लगने पर अलग होता है तीन होता है निरोध निरोपलम भगवत एव पार्थ एव धनुधर शंकर पांडव एव श्याव एवकार गति स्थिर ऐसा कहा एवकार की तीन गति होती जब विशेषण के साथ में लग जाए वकार तो क्या होगा अयोग कहा कहलाता है और विशेष के साथ में एवकार लग जाए अन्य योग व्यवसेद कहलाता है और क्रिया के साथ लग जाए तो अत्यंत अयोग कहा कहलाता है जैसे संघ पांडर एवं बोलते हैं संघ सफेद ही होता है अन्य सफेद होते कि नहीं होते अन्य भी होते हैं संघ जो होगा सफेद ही रहेगा बाकी कोई स्थल कोई भी सफेद नहीं होता खाली शंखा सफेद होता नहीं आता है विशेषण में लगाने पर अयोग व्यवसाय नहीं होता ये बात नहीं है होता शंखा सफेद ही होता है यह है विषय के साथ योगदान लगाएंगे तो जैसे पाथ है वो धनुर्धर धनुर्धर है एवं धनुर्धर अर्जुन ही है अन्य नहीं है अन्य भी है ऐसा नहीं आएगा अर्जुन ही है पार्थ एवं धनुर्धर धनुर्धर विशेषण है पात विशेष विशेष मतलब निपात इधर व्यापृति करने का शब्द और यहाँ क्या है यह जो प्राज्ञा प्रज्ञान धन एवं ऐसा दिया ये जो प्रज्ञान धन एवं का एवं कार का समझना है यहाँ क्या है ये विशेषण में लगा है कि विशेष में लगा है कि क्रिया में लगा है कहाँ लगा है इसके बारे में भाषण चर्चा चल रही है एवं शब्दात न जात्यंतर प्रज्ञान व्यतिरेकण प्रज्ञान घन एवं प्राज्ञा ऐसा अर्थ कर क्या करो प्राज्ञा प्राज्ञ एव प्रज्ञान घन ऐसा होगा प्राज्ञा एवं प्रज्ञान घन जैसे पाप एव धनुर्धर ऐसा होगा ठीक है एवं शब्दात न जात्यंतर प्रज्ञान व्यतिरेकण अस्थि तो प्रज्ञान माने प्राज्ञ से अतिरिक्त में प्रज्ञान घनत्व तो नहीं है ये कहना अन्य माने विश्व तेजस में नहीं है प्रज्ञान घनत्व प्राज्ञ में ही है प्रज्ञान तो विशेष दिशा में जाना है ये लोग प्रज्ञान घम प्राज्ञा एवं ऐसा होगा प्राज्ञ एवं प्रज्ञान घम न तो विश्व न तो तैजस न तैजस है प्रज्ञान घम न विश्व है वो प्राज्ञ ही है ऐसा कहना विशेष के साथ लगाना प्राज्ञ के साथ में उदाप लगाना है ऐसा आगे भाष्य में कहते हैं मनसो विषय विषय आकार स्पंदन आयास दुखाभाव आनवय आनंदतायो न आनंदय मन में जो है ना जागृत और स्वप्न में दो आकार धारण करता था विषय और विषयी दो बनता था दृश्य और दृष्टा रूप में हो जाता था मन मानस हो मन का विषय और विषय आकार स्पंदन दो आकार के चेष्टा होता था मन का जागृत स्वप्न मन ही दो रूप में दिखता था तो ऐसा उससे परिश्रम होना होना जो दुख होता था मन को दुख होता था तो दुख का अभाव वो दुख नहीं है मन के जो विषय और विषय आकार से होने वाला जो दुख था उस दुख का अभाव होने से आनंदमय इस अवस्था को आनंदमय कहा इस आत्मा को आनंदमय का आनंदमय मान आनंदमय का अर्थ आनंद प्राय विशेषकर आनंद वाला है आनंद ही नहीं ना आनंद है आनंद ही हो ऐसा नहीं है आनंद जैसा है आनंद प्राय है और जागृत अपेक्षा जागृत स्वप्न की अपेक्षा आनंद अधिक है आनंद न आनंद है वह खाली आनंद ही है स्वरूप ही है वो तो तुरीय ही होगा आनंद वो तो तुरीय ही होगा ये मुख्य आनंद है गौण आनंद है आनंद प्राय है क्यों आत्यंतिक आत्यंतिक आनंद नहीं है ये अनात्म गई नाश हो जाता है सुसुप्ति वाला आनंद नष्ट हो जाता है स्वप्न में आए जागृत में आए वहां से गया वो आराम से थे जैसे शरीर में पहुंच गए जागृत या स्वप्न में फिर रोना धोना शुरू हो गया वो आनंद भाग गया मुख्य आनंद जब तक थे तब तक है तो नींद की गोली खाने के जैसा है नींद की गोली जब तक खाए ठीक है नहीं तो बस वही रोना रोना है तो मुख्य आनंद नहीं है आनंद प्राय न आनंद एवं आनंद ही नहीं अनात्यंतिक आत्यंतिक आनंद नहीं है वो आत्यंतिक आनंद तो तुरी अवस्था में समाधि अवस्था में हो तुरी अवस्था समाधि अवस्था आत्यंतिक आनंद है अनात्यंतिक तो एक नंबर टिप्पणी माने विनाशित्व ये जो तो सुसुप्त के आनंद है विनाशी है एक दो घंटा जैसा होगा उसके बाद फिर जागरण का रोने लग जाए फिर दुखी विनाशी है अत्यंतिक मैं अनात्मंतिक है क्यों उसको आनंदमय कहा होगा कहते जैसे लोग में कोई व्यक्ति बहुत दुखी था तो काम छोड़ करके बैठ जाता तो सुखी हो जाता है ठीक इस प्रकार हो जाता है यदा लोग निरायास परिश्रम रहित होकर के जब बैठ जाता परिश्रम में कष्ट हो रहा था परिश्रम कर रहा था परिश्रम छोड़ देता है बैठ जाता है निरायास परिश्रम के अभाव करके जब बैठ जाता है निर्गता आयासो यश निरायास है आयास मतलब परिश्रम परिश्रम रहित होकर के जब जाता है तो उसको बोलते हैं सुखी भुक आनंद भुक सुखी आनंद भुक उच्चते तो उसको आनंद भुक कहते हैं सुखी कहते हैं अब सुखी हो गया लोग बोलते हैं सुखी बोल देते हैं ठीक इसी प्रकार अत्यंत अनायास रूपा ही यम स्थित स्थिति अनैन अनुभूयते ये जो सुसुप्ति अवस्था ये स्थिति है सुसुप्ति अवस्था कैसी है अत्यंत अनायास स्वरूप है कोई भी परिश्रम नहीं है सारे परिश्रम गायब हो जाते कितने बड़ा एक सौ चार डिग्री का बुखार हो अगर सुसुप्ति में पहुंच गया उस आनंद है वह कोई हाँ हो नहीं करता ये जागृत स्वप्न में जितने भी परिश्रम है इसी में है तो अत्यंत अनायास स्वरूप ही स्थिति ये जो स्थिति है सुसुप्ति की स्थिति कैसे अत्यंत अनायास स्वरूप है परिश्रम का अभाव है वहां कोई परिश्रम नहीं ऐसी स्थिति है अत्यंत अनायास स्वरूपा ही यम स्थिति सुसुप्ति की स्थिति ऐसी स्थिति है अनैन अनुभूय अनैन प्राज्ञान अनुभूय जो प्राज्ञात्मा है इसके द्वारा ऐसी स्थिति का अनुभव किया जाता है प्राज्ञात्मा दूसरे बने का तो अपने को समझना स्वयं हमारी स्थिति वो हो जाती है तो सुसुप्ति में पहुंचते हैं तो अत्यंत अनायास वाली स्थिति मिल जाती है उसमें जाने के लिए बहुत साधन करते हैं बात है वहां जाने के बाद आम चलता है इसलिए आनंदभोग कहा जाता है इसलिए आनंद का भोक्ता कहा जाता है सुसुप्त की अवस्था में आत्मा को यशोवश्य परम आनंद की श्रुति श्रुति में कहा गया यही तो परम आनंद है अपने स्वरूप की जो उपलब्धि प्राप्ति है ये परम आनंद है सुश्रुति में मुख्य स्वरूप की उपलब्धि तो नहीं है फिर भी शरीर आदि के अभाव होने से उस स्वरूप तक पहुंचे हुए हैं तो स्वरूपा स्वरूपाकुसुप की अनुभूति होती है यशोवश्य परम आनंद अश्य साधक से यशो परमानंद यही तो है आपका उपलब्धि तो परमानंद है ऐसा सूत्र में कहा है कहा दो तीन की टिप्पणी ऐसा मैंने स्वरूपानुभव लक्षण ऐसा स्वरूपानुभव परमानंद स्वरूपानुभव भी परमानंद है ठीक है परमा परम माने क्या परम आनंद कैसे साधन असाध्य किसी साधन से साध्य नहीं हो ऐसा आनंद ही है साधन से जो साध्य आनंद होगा वो विनाशी होगा जो भी साधन से साध्य होगा आनंद वो विनाश होगा साधन असाध्य आनंद साधन से असाध्य आनंद है साधन साध्य नहीं ऐसा आनंद है ये किसी को कहा यदि कहा आगे सेतो मुख ये विशेषण है आत्मा का सुश्रुतिकालीन आत्मा का प्राग्ञ आत्मा का उसके पर स्वप्नादि प्रतिबोधम चेत प्रति प्रतिद्वारी भूतत्वा चेतो मुख सुसुप्ति से जगने के लिए आता है इधर जगना होता है स्वप्न में जाए चाहे इसमें जागृत में जाए दोनों में किसी अवस्था में आ जाना है उसमें उस समय में मन में चेतना युक्त हो जाता है मन चेतना युक्त हो जाता है उसका जागृत स्वप्न में वह चेतना रहित हो रहा था मन नाश नहीं हुआ है चेतना रहित हो रहा था सुश्रुत तो कहते हैं स्वप्नादि प्रतिबोधन प्रति स्वप्नादि के ज्ञान के प्रति विश्व के ज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता है मन की चेतना होनी जरूर है चेतना एक मन की वृत्ति है चेतन नहीं चेतन तो अपना आत्मा स्वरूप है चेतना मन के धर्म है गीता के त्रयोदश अध्याय में जो क्षेत्र के विभाजन किया और चेतना वृत्ति करके चेतना को भी क्षेत्र के अंतर्गत रखा है क्षेत्र जो नहीं है चेतना क्षेत्र के शरीर के अंतपाती है चेतना मन का मन मन की वृत्ति है चेतना हम स्वप्न स्वप्नादि के प्रति जाने के लिए चेत प्रतिद्वारी भूतत्व चेतना के प्रति द्वार है अवस्था माध्यम है यहीं से मन को चेतना में आना है स्वप्न में आना चाहे जागरूक में आना इसलिए उस काल को चेतो मुखा कहा उस आत्मा को चेतो मुखा कहते हैं अथवा बोध लक्षण व चेतो द्वारा सुखम मुखम अश्यति स्वप्नादि आगमन करती थी चेतो मुखा अथवा ये भी हो सकता है ज्ञान स्वरूप चे, तो चेतन है चेतन की अपनी अवस्था आ जाती है कैसे अथवा बोध लक्षण वा चेतो मान चेतन यहाँ चैतन्य जो होगा द्वार चैतन्य द्वार होगा ज्ञान के लिए चैतन्य की आवश्यकता होगी मुखम से द्वार है मुख मान द्वार है आदि आगमन प्रति स्वप्न के आगमन प्रति चैतन्य होगा तब आएगा इसके लिए द्वार मुख्य अवस्था है सुसुप्ति इसलिए चेतु कहा भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व अश्वरी प्राज्ञ प्राज्ञ बोलते हैं प्रकृष्ट प्रज्ञ प्रज्ञा प्रज्ञा प्राज्ञ ऐसा विषय जानने वाले को प्रज्ञा कहा जाता है आर्तस्थोपसर्गीय सूत्र है होगा तृतीय अध्याय में होगा माने आकारांत धातु जो होते हैं उसके कप्रत्यय प्रत्यय होता है कब उपसर्ग उपभोग में रहने का प्र उपसर्ग है ज्ञान धातु आकारांत है क प्रत्यय हो जाएगा क होगा तो हाथों रूपी किसी लग जाएगा आकार लोग हो जाएगा प्रज्ञा और प्रज्ञा है प्राज्ञा जैसे बंधुरे बांधव अण प्रत्यय स्वार्थ भी कर देना चाहिए कहा तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है इसको इस आत्मा को इसलिए इसको प्राज्ञा कहते हैं भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व अश्चैव इसी आत्मा को भूत के विषय भविष्य के विषय वर्तमान विषय संपूर्ण विषयों का ज्ञाता है इसलिए इसको प्राज्ञा कहा प्रकृष्ट जाना थी प्रज्ञा प्रज्ञा एवं प्राज्ञा ऐसा करना था इसको एक भी ज्ञान नहीं है सुसुप्ति अवस्था में किंतु इसको प्राज्ञा बोल दिया कैसे बोला होगा कोई ज्ञान है सुसुप्ति में अपना पराया कोई ज्ञान नहीं वहां जागृत में तो कम से ये मैं हूं ये दूसरा है जानता था स्वप्न में ऐसा जानता था सुसुप्ति में कुछ भी नहीं है अपना शरीर का भी ख्याल नहीं है फिर प्राज्ञा कैसे हो गया शंका होगी तो कहते हैं भूतपूर्व गति से कहा गया जैसे भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं पहले जानता था खूब जानता था विषयों को जागृत में स्वप्न में खूब जानता था जैसे भूतपूर्व गति से यहाँ प्राज्ञा कहा गया ठीक है भी जो सोया हुआ है अभी सुसुप्ति अवस्था में फिर भी भूतपूर्व पूर्वगत्या प्राज्ञा उच्चते हैं एक भी ज्ञान नहीं है फिर भी प्राज्ञा कहा जाता है भूतपूर्व गति से पहले बहुत जानता था वही व्यक्ति था वो दूसरा नहीं भूतपूर्व गति से कहा कहा जाता है अथवा ये भी दूसरी बात ये भी हो सकता है प्राज्ञ के लिए अथवा प्रज्ञप्ति मात्र अशैव असाधारण में ये जो तीन आत्माओं में देखते हैं माने विश्व तेजस प्राज्ञ में तीनों में देखते हैं ज्ञान मात्र स्वरूप हो जाता है जिस अवस्था में इसलिए प्राज्ञा कौन सा अवस्था है वो सुसुप्त जागृत स्वप्न में तो विषय सहित ज्ञान है निरक्षय ज्ञान वाला है ये प्रज्ञप्ति स्वरूप मात्र अथवा प्रज्ञप्ति मात्र अशैव असाधारण रूप इसी का ये प्राज्ञा का ही एक असाधारण स्वरूप क्या है प्रज्ञप्ति स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है ज्ञ स्वरूप नहीं है जागृत में तो ज्ञान ज्ञ दो होकर के वास्ता था जाग स्वप्न में वैसे वासना था प्रज्ञप्ति ज्ञान मात्र ज्ञान प्रज्ञप्ति मात्र अशैव अशैव माने न तो अन्य विश्व का भी नहीं है तेजस का भी नहीं है ऐसे स्वरूप ज्ञान मात्र स्वरूप नहीं वो विषय के साथ होता था असाधारण स्वरूप है इसलिए रूपम की प्राज्ञ कहा इतर विशिष्टम अपनी विज्ञान इतर जो विश्व और तेजस थे तो इन दोनों को तो विशिष्ट ज्ञान है कैसे ज्ञान घट विशिष्ट पट विशिष्ट पट विशिष्ट विशेषण युक्त ज्ञान थे खाली ज्ञान नहीं था इसको केवल ज्ञान ही ज्ञान है वो ज्ञान का नाश नहीं है नहीं विज्ञात और विज्ञात है विपिल को विद्युत अविनाशित्व विषय का अभाव है ज्ञान का अभाव वहां नहीं है यह न समझना कि विषय नहीं तो ज्ञान नहीं है सुश्रुति में ज्ञान है वहां क्यों नहीं भाषता विषय का अभाव के कारण विषय नहीं है इसलिए नहीं भाषता नहीं विज्ञात और विज्ञात है विपिल को विद्युत अविनाशित्व ऐसा श्रुति है दृढ़ता तो इतर विशिष्टम अति विज्ञान इतर तो माने विश्व तेजस ये दोनों का तो विशिष्ट ज्ञान भी है माने विषय विशिष्ट ज्ञान होगा उनको चाहे स्वप्न में हो निर्विषय ज्ञान नहीं होता जागरूक में निर्विषय ज्ञान नहीं होता माने विशेषण के उतर होगा अयम मनुष्य मनुष्य के ज्ञान हुआ मनुष्य विशिष्ट ज्ञान हुआ खाली ज्ञान नहीं होता तो यहाँ विषय नहीं है खाली ज्ञान है इसलिए इसको प्राज्ञ कहा स्वयं प्राज्ञ हम तृतीय पाद ये तृतीय पाद है आत्मा का ऐसा कहा ठीक है दर्शन से स्थूल विषय से वृत्ति अत्र स्थिति जागृत दर्शन वृत्ति उच्चते भाष्य में कहा था ना दर्शन दर्शनादर्शन वृत्ति हो तत्व प्रबोध लक्षण से सुसुप्त ग्रहणार्थम यत्र सुप्त इत्यादि विशेषण जो कहा था इसका अर्थ करते हैं दर्शनम से स्थूल विषय से दिखाई पड़ता है जो स्थूल विषय दर्शन का इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होता है तो स्थूल विषय वृत्ति अप्रस्थि स्थूल विषयों की वृत्ति बनती है अंतकरण में इसलिए वो जागृत अवस्था है जिस अवस्था में ऐसा बन जाए वो जागृत अवस्था है जागृत हम दर्शन वृत्ति इसलिए जागृत अवस्था को दर्शन वृत्ति कहा जाता है मान विषयों की वृत्ति बनती है फूल विषयों की वृत्ति बनती है इसलिए जागृत अवस्था को दर्शन वृत्ति कहा भाष्य में ये कहा ठीक है फूल विषय दर्शनार्थ अन्य अदर्शन फूल विषय जो दर्शन वृत्ति थी उससे अन्य को अदर्शन कहा माने स्वप्न को अदर्शन वृत्ति कहा भाष्य में दर्शनादर्शन वृत्तियों अदर्शन वृत्ति कहा फूल विषयात दर्शनात् जो फूल विषय है दर्शन उससे अन्य जो होगा अन्य अदर्शनम वो अन्य हो जाएगा स्वप्न अदर्शन में चला जाएगा अदर्शन वासना मात्र अदर्शन वृत्ति मान वासना मात्र है फूल विषय नहीं है फिर भी वृत्ति बनी हुई है वासना मात्रम संस्कार मात्रम तस्य वृत्ति रहस्य अस्थि उसकी वृत्ति है इस अवस्था में है वासना मात्र की वृत्ति है इसकी आदर्शन वृत्ति ही आदर्शन वृत्ति कहलाता है तय स्वप्न ये जो जागृत स्वप्न दोनों का सुसुप्त पर स्वापस्य तत्वाग्रहण से तुल्यत्वा जैसे सुसुप्त अवस्था में तत्वाग्रहण धर्म होता है तत्वाग्रहण माने अपना स्वरूप का ज्ञान तत्व का अग्रहण सुसुप्त में है ये दोनों में भी वही है अपना स्वरूप ज्ञान नहीं आज हम पहचानते हैं मनुष्य को पहचानता है हम अपने को नहीं पहचानता है या कि मान के पुतल को पहचान रहा है शीशा में जो देखा वही तो मैं होता हूँ जागरूक में तो मैं कौन होता है जो शीशा में दिखाई पड़ता है वही तो, तो यही होता है सुसुप्त पर एवं स्वापस्य तत्वाग्रहण से तुलना जैसे सुसुप्त अवस्था में तत्वाग्रहण है आत्मा का ज्ञान नहीं होता ठीक इसी प्रकार ये दोनों में वैसा ही है होने के कारण विशेषण लगाना पड़ा ये कह रहे इसे यत्र सुप्त इति भी तयोर अभी प्रसप्त हो तब व्यवच्छेदन सुप्त यत्र सुप्त इत्यादि वाक्य न कंचन इत्यादि विशेषण अरे यत्र सुप्त उगते भी चलो यत्र सुप्त कहेंगे तभी तयोर भी प्रसाद हो उनके भी होगा तत्वाग्रहण तो रहेगा ही जिस अवस्था में सोया हुआ को अपना ज्ञान नहीं होता तो जागृत स्वप्न में भी नहीं है तय और प्रसक्त हो उन दोनों भी प्रसक्त होंगे जागृत स्वप्न के भी उसमें भी तो नहीं है तत्व का अज्ञान ही है आत्मा का अज्ञान है इसलिए तद व्यवचेतन इसलिए जागृत स्वप्न के से अलग करके सुसुप्त सेव ग्रहणार्थम तत्व प्रबोध तत्व का अबोध बराबर होने पर भी फिर भी जागृत स्वप्न से सुसुप्ति को अलग करने के लिए दो विशेषण है यह प्रसुप्त न कंचन काम हम काम है न कंचन स्वप्न कश्य जागृत में तत्वाग्रहण हम होने पर भी वहां कामना करता था स्वप्न में तत्व का अग्रहण होने पर भी क्या करता था स्वप्न देखता था किंतु सुसुप्त में कामना भी नहीं है विषम की कामना भी नहीं है स्वप्न दर्शन ये विशेषण कराया यत्र सुत्र इत्यादि वाक्य न कंचन इत्यादि विशेषण यत्र सुप्त सुसुप्ति वाक्य है इसमें न कंचन इत्यादि विशेषण दिया तद्धि स्थान द्वयम व्यवच्छित है जो न कंचन कामम थे न कंचन संपन्न पश्चिम दो विशेषण है दोनों स्थानों से अलग करके सुसुप्ति को छिद्य सुसुप्तम एवं ग्राहयती इत्यर्थ सुसुप्त को ही ग्रहण कराएगा ये दो विशेषण पढ़ा देंगे तो तत्वाग्रहण समान होने पर भी तीनों अवस्था होने पर भी जागरूक स्वप्न से व्यावृत्ति करके सुसुप्ति का ही ग्रहण कराएगा यही है न कंचन स्वप्न पश्यति अनेन विशेषण स्थान छेद संभवात विशेषांतरम अकेंद्रित करम इति आशंका अब एक शंका आ जाती है न कंचन स्वप्नम पश्यति बोल देते हैं अन्यथा ग्रहण गृहता स्वप्न कारिका में बोलेंगे जो अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहते हैं जागृत में तो अन्यथा ग्रहण है है आत्मा दिख रहा है शरीर आदि रूप से अन्यथा ग्रहण है स्वप्न में भी आत्मा होता है दिखता है शरीर आदि रूप से अन्यथा ग्रहण गृहता स्वप्न निद्रा तत्व अजानता और निद्रा किसको बोलते हैं आत्मस्वरूप को न जानना निद्रा ये वेदांत की निद्रा ऐसी निद्रा है अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहते हैं और निद्रा माने आत्मा को न जाने विपर्या से तय क्षीण है तुरियम पदमस्मृदे ये दोनों के जो विपरीत पना क्षीण हो जाने पर नष्ट हो जाने पर माने अन्यथा ग्रहण का अभाव हो अपना स्वरूप का ज्ञान हो अन्यथा ग्रहण हो अधिष्ठान का ज्ञान हो अन्यथा ग्रहण का अभाव हो जाए और अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाए वही तुरीय पद है तुरीयम पद ऐसा कहा तो ये कारण आते हैं यद ये न कांचन स्वप्न प्रसिद्धि इन्हें अनैन विशेषण स्थान विवचित संवाद यह शंका है न कंचन स्वप्न प्रसिद्धि बोलते हैं दोनों अवस्थाओं को वेदांत के हिसाब से स्वप्न अवस्था ही है अन्यथा ग्रहण अवस्था है दोनों तो ये दोनों के न कंचन स्वप्न प्रसिद्धि जिस अवस्था पर सुसुप्ति आ जाती फिर ये जागृत स्वप्न के व्याग्रह के लिए दो दो विशेषण क्यों न कंजन काम काम की आवश्यकता ही नहीं है एक ही विशेषण पर्याप्त है ये पूर्वाधिक शंका है क्यों जागृत स्वप्न को दोनों को स्वप्न ही माना हुआ है कारिकाकार ऐसे बोले अन्यथा ग्रहणता स्वप्न जो अन्यथा ग्रहण हो रहा हो उसको स्वप्न कहते हैं जागृत में भी अन्यथा ग्रहण होता है स्वप्न में अन्यथा ग्रहण होता है स्वप्न में न कंचन स्वप्न पश्यती विशेषण स्थान पर विवच्छेद संभव दोनों स्थान से व्यावृत्ति हो जाएगी सुसुप्ति के लिए एक ही विशेषण काम करता इसलिए विशेषांतरम अकिंचित दुष्ट विशेषण कौन न कंचन काम काम यदि विशेषण अकिंचित कर है व्यर्थ है ये इतिहास संज्ञा ऐसी शंका उन पर उत्तर देना चाहते हैं इसकी आह चार की टिप्पणी विशेषण और विकल्प व्यावर्तक विषय आह किम आह विशेषण भिन्न भिन्न रूप से व्यावर्तक दिखाना चाहते हैं व्यावर्तक भिन्न भिन्न रूप से एक जागृत के लिए एक स्वप्न के लिए एक शेष लगाना कहा के आगे शेष लगाना ये कहा इसलिए अथवा करके भाषण में कहना चाहते हैं पहले टिप्पणी है पांच की अथवा अथवा अथवा इत्यादि विद्यते इति ग्रंथे न दोनों विशेषणों के तात्पर्य बताना चाहते हैं अथवा से लेकर के आगे अगले प्रश्न में विद्यते आएगा द्वितीय पंक्ति में काम हुआ कश्चन विद्यते वहां तक यहां तक के भाष्य के द्वारा ये विशेषण दिखाएंगे ये कहा अथवा भाषण का अथवा त्रिशोपी स्थानेशु तीनों स्थानों में तत्वाग्रहण प्रबोध लक्षण स्वापो अभिष्य पूर्वाभ्याम सुषुतम है देखो ये तत्व प्रबोध स्वरूप जो स्वाप है ये तीनों अवस्था में बराबर है निद्रा निद्रा तत्व में जाना निद्रा माने स्वप्न सो, सोना सोना यही है जो आत्मस्वरूप को नहीं जानना सोना है तीनों में आत्मस्वरूप नहीं जानना न जागृत में न स्वप्न में न सुषुप्त तो स्वाप बराबर है कि पूर्वाभ्याम सुश्रुतम विरोधी इसलिए क्या करना स्वाप तो बराबर ही हो गया सबके लिए इसलिए दोनों अवस्थाओं से सुश्रुति को भिन्न करना चाहते हैं तत्व अप्रबोध तो बराबर है सभी में होने पर भी दोनों अवस्थाओं से अलग करने के लिए विशेषण है क्या है यत्र स्थान है काले व जिस अवस्था में सोया या जिस काल में सोया हुआ व्यक्ति है न कंचन स्वप्न पश्यति कोई स्वप्न नहीं देखता न कंचन काम काम है तो किसी कामना को भी इच्छा नहीं करता किसी विषयों की इच्छा भी नहीं करता इत्यादि ये कहा ठीक है प्रतिबोध स्वाप यही है तत्व तत्व का अप्रतिबोध क्या है स्वाप है निद्रा जिसको बोलते हैं स्वाप है ये सोना है तस् स्थान पर तुल्य वो स्वाप तो जो है तीनों स्थानों के लिए बराबर है जागृत में भी आत्मा का ज्ञान नहीं है स्वप्न में भी नहीं है सुसुप्त में नहीं है बराबर हो बराबर होने पर भी जागृत अभियान विभज्य सुसुप्तम ज्ञापयतुम जागृत स्वप्न से अलग करके जो सुसुप्ति को ज्ञान कराने के लिए विशेषण इत्यर्थ दो विशेषण इसलिए है एक से जागृत की जागृति करना चाहते हैं एक से स्वप्न से जागृति करना चाहते हैं न कंचन काम काम है जैसे जागृत से जागृति और न कंचन स्वप्न थे स्वप्न से जागृति करना चाहते हैं छह की टिप्पणी विशेषण द्वयम ये दो दो विशेषण है न कंचन काम काम है न कंचन स्वप्न पश्य दो विशेषण के द्वारा ये चाहते हैं आगे फिर शंका टीका में एक विशेषण से विरोधत्व समवाद एक ही विशेषण न स्वप्न पश्यती न कंजन स्वप्न पश्यती इसी से हो जाता तत्वाग्रहण रूप समान है उसी से हो जाता एक विशेषण से विरोधेत संवाद अलम विशेषणाभ्याम दो दो विशेषण क्यों ये पूर्वादि की संज्ञा समाधि हमने जो पूछा था उसको तो आपने कोई उत्तर दिया नहीं आप तो और कुछ बोलने लग गए ये पूर्वादि की संख्या हो गई क्या समाधि इसका उत्तर क्या है एक ही विशेषण से सब हो जाता व्यावृत्ति हो जाती है दो दो विशेषण क्यों इसकी क्या उत्तर है समाधि माने क्या उत्तर है इसका समाधान क्या है समाधि माने समाधान समपूर्व धाधातु से ल्यूट करो तो समाधान बनेगा समपूर्व धाधातु से की करो तो समाधि बनेगा बात एक ही है समाधान समाधि एक ही चीज है समाधान बोलने से थोड़ा स्पष्ट लगता है समाधि का पर दूसरी तरफ बुद्धि जाती है तो बात एक ही है <clears throat> अच्छा एक सात की टिप्पणी उक्ताम शंकाम अनुद्य परिहार निर्णयायक में अवतार यदि कहा उस शंका का अनुवाद करके गुरुवादी की जो शंका थी स्वप्न विशेषण से काम चल जाएगा कहा उस शंका का अनुवाद करके और उसका परिहार है खंडन करना है शंका को उत्तर देना है उसका निर्णायक भाव को अवतरण देते हैं कहा यह अवतरण लाया ठीक है शंका करके विशेष अयोर विकल्प व्यवच्छेद करता विशेषण जो तो है भिन्न भिन्न रूप से व्यवच्छेद है यहाँ एक जागृत के लिए है एक स्वप्न के लिए है न आनर्थत्म इसलिए भिन्न भिन्न रूप से होने के कारण विकल्प है समुचय रूप से नहीं है विकल्प रूप से होने से अनर्थकता नहीं विशेषण की इति नहीं इत्यादि भाषण कहेंगे विकल्प टिप्पणी आठ की द्वयोरपी व्यावर्तकत्व इष्टम दोनों के दोनों व्यावर्तक रूप से इष्ट है व्यावर्तकत्व तृतीयांत इष्टम व्यावर्तक रूप से इष्ट है तेरह व्यावर्तनीय नीति विकल्प है उसके द्वारा व्यावर्तनीय होता है इसलिए विकल्प कहा अच्छा इसलिए कार्य भाषण कहते हैं नहीं पहली टिप्पणी नहीं के ऊपर चार की टिप्पणी दी जा उक्त विशेषण वही संज्ञा परिहार कृति करोगी तो पूर्वाली ने कहा था कि विशेषण व्यर्थ है दो दो विशेषण करना व्यर्थ है एक ही से काम करने कहा था उस शंका का खंडन करना जो परिहार है उसको स्पष्टीकरण करते नहीं का भाष्य के द्वारा कहा नहीं सुसुप्ते पूर्वयो यथाग्रहण लक्षण स्वप्न दर्शन वा कश्चन विद्यते सुसुप्ति अवस्था में जो अन्यथा ग्रहण स्वरूप जो स्वप्न है अन्यथा ग्रहण स्वरूप जो काम है ये दोनों नहीं है अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहते हैं जागरूक में जो अन्यथा ग्रहण है स्वप्न ये है कि दोनों सुसुप्त में नहीं है नहीं सुसुप्त सुसुप्ति अवस्था में पूर्वयोरी पूर्व अवस्था में अन्यथा ग्रहण था स्वप्न में भी था जागृत में भी था अन्यथा ग्रहण लक्षण अन्यथा ग्रहण स्वरूप स्वप्न दर्शन काम होगा चाहे स्वप्न दर्शन हो चाहे विषय की कामना हो विषय की जागृत या स्वप्न दोनों में कोई भी जो भी हो कश्चन न विद्य कोई भी नहीं है सुसुप्त में दोनों नहीं है न विद्यते ठीक है अन्यथाकरण सुंदरतम काम संस्पर्श विरही तत्व च विशेषणाभ्याम विवक्षित ये कहते हैं अन्यथाकरण सुंदरत्व जो है ना <clears throat> क्या है काम संस्पर्श विरही तत्व विशेषणा काम का संस्पर्श से अतिरिक्त हो जाने की अवस्था है विषयों की संस्पर्श से अतिरिक्त है ऐसा दिखाना है ये अन्यथा ग्रहण सुंदर तो अवस्था दिखाना हमारे सुसुप्ति में किसी भी विषयों का स्पर्श नहीं है जागृत स्वप्न में काल्पनिक विषयों की स्पर्श है संबंध है सुसुप्ति में कोई भी नहीं है ये दोनों विशेषणों का तात्पर्य है जैसे संस्पर्श रहित अवस्था है ये दिखाना है ठीक है यत्र अपेक्षितार्थम कथेगी यत्र सुप्तो नतंद्र कामम काम इत्यादि है ना तो यत्र के लिए अपेक्षित कुछ शब्द हैं यत्र इत्यस्य अपेक्षितार्थम रहेगी यत्र पद के लिए जो अपेक्षित विषय हैं उसके कथन करते हैं कहा टिप्पणी पांच की यत्र इत्यादि वाक्य यत्र सुप्तो नतंद्र काम काम जो यत्र इत्यादि वाक्य है इसका कुछ विशेष अर्थ का कथन करते अपेक्षित अर्थ कथन करते तदेतत इत्यादि कहा तदेतत सुख स्थानम अश्य सुख स्थान यत्र सुप्तो न काम काम थे तदेत सुसुप्त स्थान वही उसके सुसुप्त स्थान है सुसुप्त स्थान वाला आत्मा है कहा बता दिया टिप्पणी कथम अश्य सद्वितीय एक एकीभूतत्व विशेषण इति आशंका तो एकीभूत कैसे हो जाना एकीभूत कहा यह विशेषण कैसे घटेगा द्वितीय के साथ रहेगा आत्मा द्वितीय के साथ है विषय के साथ है कैसे एकीभूत होगा यही है कथम अश्य इस आत्मा का सदी से आत्मा सदयुतीय है द्वितीय के साथ है द्वैत के साथ है इसका एक ही भूत तो विशेषण कथम एक ही भूत विशेषण एक ही भूत कैसे बोल दिया विशेषण है सुसुप्तिकालीन आत्मा के लिए कहा एक ही भूत कैसे विशेषण लगा तो ये कहते हैं स्थान इत्यादि कहा स्थान अश्य स्थान स्थान मन मनस्पंदितम द्वैत जातम तथा तथा रूप अपरित्यागी न अभिवेकापन्नम नैषतमोग्रस्तम विवाह स प्रपंचार्थम एकीभूतम उच्यते यद्यपि एकीभूत अवस्था तो वो भी नहीं है उसमें भी है किंतु जैसे रात्रि में वस्तु ढक जाता है दिन ढक जाता है प्रकाश ढक जाता है तो एकीभूत हो जाता है ऐसा लगता है घनीभूत रात्रि को घनीभूत कहते हैं इसी प्रकार यहाँ भी कहा थानदय प्रज्वलतम जो जागृत स्वप्न में विभक्त जगत का द्वैत वर्ग था मनस्पंदिता मन की जो चेष्टा मात्र द्वैत है वो द्वैत तथा रूप अपरित्याग उसका अपना स्वरूप का परित्याग नहीं करता सुश्रुति में जिसका जैसा रूप है है तो ढक जाता है अपरित्याग ना अविवेकापन्नम ज्ञान युक्त नहीं होते हैं बात इतनी है जानकारी से अभाव हो जाता है नहीं सतम दृष्टान दिया जैसे रात्रि के अंधेरे से ढका हुआ दिन प्रकाश हो जाता है सब प्रपंच का भाई तो प्रपंच के सही है वो अगर उसमें प्रबंध रहो तो जागृत में कहा से आए प्रबंध के सहित है वो अवस्था सब प्रबंध का प्रबंध के सहित उसको एक ही भूत एक ही भूत कहा जाता है ऐसा कहा यानी विवेक में नहीं आते हैं इसलिए ये कहा जैसे मधु के दृष्टांत दिया है मधु एक है कि अनेक है वहां अनेक है क्योंकि एक ही माना जाता है वो विवेक का अभाव हो जाता है कि मैं कहां से आया मैं कहां से आया पता नहीं होता ऐसे नहीं ठीक है अभी कहते हैं स्थान द्वय मान क्या जागृतम स्वप्न से स्थान द्वयम जो दोनों स्थानों में मनस्पंदित द्वैत थे अविवेक को प्राप्त हुए उस अवस्था में है तो है द्वैत तेना प्रविभक्तम यद्वैतम फूलम सूक्ष्म तत्सर्व मनस्पंद मात्रम हाँ। इसलिए जो प्रविभक्त हुआ जो द्वैत है जागृत स्वप्न में जो विभक्त हुए द्वैत के स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के द्वैत दोनों के दोनों तत्सर्व सबके सब मनस्पंदित मात्र मन की चेष्टा मात्र है मन की कल्पना मात्र है कोई क्योंकि इस बात को किसी आगम प्रकरण के तृतीय प्रकरण में जाकर के बोलेगा वेद प्रकरण में मनोमात्र इदम अद्वैतम यद किंचित सचराचरम मनसो यमनी भावे द्वैतम मैंने बोल थे जो कुछ भी द्वैत है मन की कल्पना मात्र है जागृत स्वप्न में मन जीवित है वो कल्पना करता है द्वैत खड़ा हो जाता है सुश्रुति में समाधि को देखा मन नहीं है तो द्वैत भी नहीं मन जब अमनी भाव होगा मनस तो धर्म समाप्त हो जाएगा मन अमनी भाव अवस्था में जाए उस काल में द्वैत नहीं होता है ऐसा तेरह सविभक्तम अद्वैतम स्थूलम सूक्ष्म विभक्त हुआ जो द्वैत है थूल सूक्ष्म सबके सब तत्सर्वम मनस मात्र बक्ष थे हाँ, गौरिका गौरपादाचार्य चार्य बक्ष थे गौरपादाचार्य के द्वारा ये कहा जाएगा मनसो यमन हिवाल द्वैतम नहीं बोल लभ्य थे ऐसे कार्य का बताएंगे आगे तृतीय प्रकरण बक्षते गौरपादाचार्य बक्षते गौरपादाचार्य द्वारा कहा जाता है बक्षति नहीं कहा करते ही कर्म ही प्रयोग करेंगे गौरपादाचार्य भक्षति गौरपादाचार्य बक्षते गौरपादाचार्य के द्वारा कहा जाएगा इस बातें ये कहा तत्व यथा स्वकीय रूपम आत्मा तच्च द्वैतम जो द्वैत है सुसुप्त में जो एक ही होने वाला द्वैत तच्च द्वैतम यथा स्वकीय रूपम आत्मा विभक्तम अपने जो विभक्त रूप था जागृत स्वप्न में जो विभक्त रूप था अपना अलग अलग स्वरूप था तथैव उसी प्रकार ही रहेगा तस्य अत्यागे उस रूप को परित्याग नहीं करता द्वैत अत्यागे अव्याकृताख्यम कारण आपन्नम अव्याकृत नामक जो कारण है अज्ञात ब्रह्म सबल ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म जिसको बोलते हैं ईश्वर जिसको बोलते हैं सबल ब्रह्म बोलते हैं उसी को प्राप्त होना है प्राज्ञ माने ईश्वर से अभिन्न प्राज्ञ लेना है कारण कारण आपन्नम अव्याकृत नामक जो कारण है अव्याकृत माने अज्ञात ब्रह्म को अव्याकृत कहते हैं कारण आपन्नम स्वकीय सर्व विस्तार सहित अपने जो जितने भी विस्तार थे जागृत स्वप्न में जितने विस्तार थे द्वैत का जितना विस्तार था सब पूरा पूरा कारणात्मक उस काल में कारण रूप हो जाता है एक कहा कैसे तो कहा यथा अहर कैसे तमसा ग्रस्तम जैसे दिन हो जाता है रात्रि के अधेरे से जब ग्रसित हो जाता है ढक जाता है तमस को तमस्वे नहीं व्यवहित है अंधेरे रूप से ही व्यवहार होगा किसका दिन का रात्रि के अंधेरे से जब दिन ढक जाता है दिन लोप नहीं होता ढक जाता है अंधेरे से ढक गया ढकने पर रात्रि रूप से प्रयोग होता है ठीक इसी प्रकार तथा इधम अभी यहाँ भी ये जो द्वैत इधम अभी द्वैतम अभी ये जो द्वैत है जागृत स्वप्न के द्वैत जितने भी थे इधम अभी जात हम जो कार्य वर्ग है जितने भी है फूल स्वप्न द्वैत जितने भी है कारण भावापन्नम कारण भावम आपन कारण भाव को प्राप्त हो गया उस काल में से कारण इतने कारण रूप से व्यवहार होगा अव्याकृत नाम से व्यवहार होगा उस काल में व्याकृत नाम से व्यवहार नहीं होगा कहा तस्याम अवस्थायाम उस अवस्था में उस सुप्ति में जो कारण भाव को हो गए सारे द्वैत कोई द्वैत नहीं मिलते उस काल में है तो है ढका हुआ है तस्याम अवस्थायाम उस अवस्था में तद उपाधि आत्मा एक ही भूत वो जो सुसुप्ति उपाधि वाला जो आत्मा है एक ही भूत अध्यात्मित उपाधि वाला आत्मा एक ही भूत विशेषण भाग भवती एक ही भूत विशेषण वाला होगा क्या विशेषण उसका एक ही एक ही भूत एक ही भूत ऐसे विशेषण वाला हो जाता है यह आत्मा तथापि कारण उपहित प्रज्ञानघन विशेषण अधिकम फिर भी चलो मान लेते एक ही भूत हो गया फिर प्रज्ञानघन विशेषण तो नहीं हो सकता वो तो कारण उपाधि वाला है जो सुसुप्तिकालीन आत्मा कारण शरीर उपाधि वाला है कारण उपाधि ऐसे सब कारणोपाधि कारणोपाधि वाला है ईश्वर नाम है उसका तथापि एक ही भूत भाव मानने पर भी कारण उपा कैसे कारण उपाधि है उसकी कारण शरीर उपाधि है सुसुप्ति वास्ता वाले आत्मा की ऐसे उपाहित जो आत्मा है प्रज्ञान का विशेषण तो। प्रज्ञान कैसे होगा निरुपाधिक सेव तथा प्रज्ञान विशेषण तो उसका होगा किसा निरुपाधिक का होगा तुरी अवस्था वाले आत्मा का होगा इसको प्रज्ञान कैसे बोल दिया सुसुप्ति काल में आत्मा को क्यों कारण शरीर उपाधि है उसकी ये शंका तथा विशेषण संभव प्रज्ञान विशेषण तो वहां संभव है कहा तुरी भी संभव है पूर्वादि की शंका इति आशंका अतएव इत्यादि शब्द से कहा समय हो गया है नहीं रखते हैं